इनके जो जन्म है वो कैसा है मायापम तेषाम जन्म तेजा मना तो पदार्था नाम गड़बड़ादी नाम जन्म मायोपम माया सदृश है माई माया अभी के द्वारा निर्मित जो माया है उसी में सदृश है अतएव जो है ये सत्य नहीं हो सकते चलो माया तो है ना लेकिन एक आत्मा एक माया दो चीज तो है तो द्वैत हो ही गया दे सा माया न विद्यत वास्तव में जाना हम माया भी नहीं तो कैसे सब है कदा भी बताएंगे तुमको समझाएंगे जैसा कार्य वैसे कारण मानना पड़ता है जैसे तुमको दिखाई पड़ रहा है वैसे मानना पड़ता है पहले हमने वो बिहारी कहावत सुनाया था ना भरवट देवता के लिए हरवट पूजा ऐसे कुछ बोलते हैं जैसी देवता वैसी पूजा एक चाण रूप बोली तुम जगत को मानते हो इसे तुमको कहना पड़ रहा है माया है माया ने पैदा किया जो है ही नहीं वो दिखा देते तो उसी का नाम तो माया है इसलिए माया नाम का वास्तविक कोई तत्व तो है नहीं अविद्यमान वस्तु का ही नाम माया इसलिए कहते साच माया न विद्यते ये भी आत्मनो अन्य धर्म अजायंती विकल्प्यंदे जो लोग कहते हैं आत्मनो अन्य आत्मा से भिन्न जो धर्म है क्या अनात्मता घटपटादि संसार जो उनको जायंती कल्प्यंत उत्पन्न होते हैं ये सब ऐसा लोग क्या करते हैं कल्पना करते हैं व्यवहार करते हैं कल्पना करते हैं व्यवहार करते हैं व्यवहार के इतम प्रकार वो इस प्रकार का जो व्यवहार है व्यवहार का विषय होता है यथोक्ता जो गड़बड़ा रही है वो समृद्धि निर्देश वो सब समृद्धि के द्वारा निर्दिष्ट निर्देश किया गया है अज्ञान के समृद्धि ही धर्म आ जाएंगे अनंतर प्रकृता समृद्धि शब्द है ना उगता आनंद कार देखो अंतिम पंक्ति स्पष्ट करे अनंतर प्रकृता समृद्धि जो अभी अभी पूर्व में कहा गया था कारिका में समृद्धि शब्द अनंतर प्रकृत है पूर्व श्लोक में आरभ किया गया था जो समृद्धि उसी को इति शब्द से कहा गया अब उसी बात को करने ने दिया हाँ, समृद्धि है मैंने समृत्य तथा समृत्य धर्म जायते नतुमेशम तत्व जन्म अस्ती अर्थ ये इसका अर्थ समझो समृत्य धर्मा जयंते तथे तत्वता परमार्थ हो जायते भाषिकार स्पष्ट सीखो का समृत्य धर्म जायते समृद्धि के मन विद्या के द्वारा ही इन जगत के पदार्थों को उत्पत्ति हो गया ऐसा कहा जाता है नते तत्वता परमार्थ तत्व परमार्थ परमार्थता उत्पन्न नहीं होते यद तो समृत्या जन्म तेषा धर्म नाम जो पुनः वो जो कहा जा रहा है समृद्धि के द्वारा उनका जन्म अपारमार्थिक जो जन्म के बारे में आपने कहा है मन उत्पत्ति के बारे में जो कहा है तेषाम धर्माणाम यथोक्ता नाम वो उसी प्रकार का है यथा माया जन्म जैसे कि माया से किसी चीज की उत्पत्ति हो पूर्वक आप कहते हो है करवार करते हो का या सदरूपत्व प्रयोजकम तद अभाव इनकी जो है मायकत्व का गायन में मायकत्व किसे प्रयोजक है वस्तु की असद रूपता को सिद्ध करने में प्रयोजक होता है वस्तु की असद रूपता को सिद्ध करने के लिए मायकत्व सबसे बढ़िया हेतु बनता है किसी भी वस्तु यदि असद रूप है वो मायक है निश्चित रूप से जैसे रज्जु सर्प है रज्जु सर्प मिथ्या है असद रूप है क्यों मायकत्वात आविद्यकत्वात अविद्या से जन्य जो रज चैतन्य है तभी आवरणी अविद्या पूर्ण रूप भंग न होने पर वेदांत सिद्धांत में भ्रांति से उत्पन्न वस्तुओं का जो समय प्रकार समझने के लिए जरूरी होता है वेदांत परिभाषा को बढ़िया घोटना इसलिए कहता है घोटो अच्छी तरह से तो भी जा करके वेदांत बढ़िया समझ में आ जाता हर बात यहाँ संकेत तो कर दिया है इन्होंने इसका तात्पर्य क्या है क्योंकि होता क्या किसी भी वस्तु का हम दर्शन करने की चेष्टा करते हैं उस वस्तु का अपने यथार्थ क्यों नहीं बोध हो रहा है उसे बताया उन्होंने तब तक वस्तु चैतन्य का आवरणी वो जो अविद्या होती है उस अविद्या को भंग करने के लिए आपकी वृत्ति यहाँ से गई गई जो वृत्ति उस आवरण को भंग नहीं कर पाती है किंतु उस आत्मिक अविद्या को शुद्ध कर देती है उसे चहल पैदा कर देती है वृत्ति और उस चहल पैदा करने से वह जो अविद्या त्रिगुणात्मिक है वो जो घटावचिन चैतन्य रज्जावचिन चैतन्य शुक्तवचिन चैतन्य का आवरणीभूत अविद्या भी त्रिगुणात्मिका होती है उसका सत्वांश है अंश है तमो अंश है क्रिया नहीं इसलिए क्या होता है रजोअंश से वह रजत पैदा हो गया या सर्प पैदा हो गया जो भी पैदा हो गया उसका रजोंश पैदा हो गया अविद्या का रजोंश से वहाँ पर वह वस्तु पैदा हो जाता है जिसको आप देखते हो फिर उस वस्तु को भी शुरू में आवरण कर देते उसका तमोगुण वह तमोगुण उसका उपायन कारण भी है और उत्पन्न सर्व का आवरण भी कर देगा और उसी अविद्या का सत्गुण क्या करेगा उस सबको प्रकाशन भी कर देता है तो शुद्ध जो अविद्या ने क्या किया स्वतमांश रूप उपायन कारण की सहायता से रजवंश के द्वारा वह सर्प का संकल्प करके सर्प को उत्पन्न कर दिया और उस सर्प को वही तमांश फिर आवरण करता है और सप्तंश आवरण को भंग करके प्रकाशन करता है तब आयम सर्प ज्ञान हो जाता है तो वो जो उत्पत्ति है क्या है आविद्य था या नहीं यथा असत सर्प माइकत्वात आविदिकत्वात मिथ्या है तद्वत और समस्त जगत भी मायकत्वाच मिथ्या इसलिए कहा मायकत्वंतु ही असंगपत्य प्रयोजकम तदावत सा तथा क्योंकि वह माया स्वयं अभाव रूपा है असद रूपा है अविद्यमान रहता है अभी कहेंगे देखो उसी बात तथा तन मायोपम प्रत्येतव्यम भाष्य में यथा माया जन्म तथा मायोपम प्रत्येद्याम जिस प्रकार से माया द्वारा जन्म हुआ पदार्थों का आप देखते हो उसी और माया के सदृश इस सदृश जगत की उत्पस्थिति और लय को जानना चाहिए समझना चाहिए माया नाम वस्तु तरी तो पूर्व ठीक है फिर भी दर्शित हो गया हमारा इनकी एक तो हो गया आत्मा जो आप मान ही रहे हो और दूसरी हो गई माया तो दो वस्तु है तो द्वैत है माया भी वस्तु है ना कहते नैवम ऐसा कभी ना सोचिए आप कि माया नाम की कोई वस्तु हो जो कि यथार्थ हो पारमार्थिक हो स्वतंत्र सत्ता हो ऐसा कोई वस्तु वो नहीं है क्यों साच माया न विद्यते क्योंकि माया किसका नाम है माया इति अविद्यमान से आख्या अविद्यमानता का दूसरा नाम माया है इति अभिप्राय ये जो यहाँ कार्यकर्ता अभिप्राय है माया क्योंकि माया को माया से जन्य माइक है लेकिन माया स्वयं अमायिक है ना ये शंका का कारण ये है माया से जो जन्य है उनको क्या बोलोगे ये माइक तत्व है लेकिन माया माया से जन्य क्या माया अमायिक है मैंने वास्तविक ये शंका हो सकता तब ने माया स्वयं अविद्यमान रूप है आते उसे कोई अपने स्वतंत्र स्वरूप हो ही नहीं सकता कथम माया धर्म जन्म संसार की जन्म स्थिति और लय सब माया को मामा पर कह दिया कैसा हो सकता है वही यशान रूप बलि न्याय लगा रहे हैं कथा माया मया बी जात जायते तन्मयो अंकुर नासो नित्यो न चोच्छेदी तद धर्मेश योजना कहते जैसा मायामय बीज है उससे उत्पन्न मायामय अंकुर है जी बीज भी कैसा है माया जमी अतः अंकुर कैसा होगा वे माया जमी होगी तथा यहाँ पर भी न असनित्य न चुच्छेद इसे न तो बीज और अंकुर इनमें से कोई न नित्य है न उनको कोई उच्छेद ही हो सकता है तत्व धर्मेश योजना इसी प्रकार से जो ऐसे समस्त धर्मों के विषय में भी जन्म नाशादी की योजना समझनी चाहिए भाष्य यथा माया मया आम्रादि बीजा जायते तन्मयो मायामयो अंकुरो जिस प्रकार से मायामय आम्रादि बीजों से मायामय अंकुर आदि उत्पत्ति होती है लेकिन नाथ अंकुरो वह उत्पन्न अंकुर न तो नित्य है न तो उच्छेदी न विनाशी है विनाशी वा क्यों अभूत क्योंकि है नहीं दिखाई दे रहा केवल मायामय का मतलब है कि है नहीं किंतु दिखाई दे अभूतत्वा कह अभूतत्वा मैंने असद रूपत्व असद रूप होने तद्वदेव धर्मेश इसी प्रकार घटपटा सकल धर्मों में लगा दो सकल अनाथ पदार्थों में जो कहा जाता है तस्मा देते आत्मा आकाश सम्भुता आकाश से लेकर के क्षुद्र वस्तु पर सारे चीजों को ले सभी के सभी के बारे में कहते हैं जन्म नाशाद योजना युक्ति ही योजना मैंने ये जन्म नाशादि के बारे में यही युक्ति सभी जगह समझना अभी परमार्थ तो नाम जन्म नाश हो जाते कहने का तात्पर्य इन गड़बड़ा आदि वस्तुओं का न तो जन्म परमार्थ हो सकता है अनाश परमार्थ हो सकता है परमार्थ वस्तु फिर परमार्थता है क्या वो तो बताओ कहते हैं कि वे नाजेशु सर्वधर्मेशु शाश्वता शाश्वता अभिधा यत्र वर्णान दे विवेक अरे जिस विषय में कोई शब्द भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है यथोवाचो निवर्तन तक प्राप्ति मनसा सहा उसका हम क्या लक्षण बताएंगे आपको उस वस्तु का लक्षण किया जा सकता है जो शब्द के द्वारा निरूपणीय है निरुक्तंच निरुक्तंच बात आई थी ब्रह्मचार्य जी पूछे माया तो निर्वचनीय आप कह दिए ब्रह्म भी अनिर्वचनीय है ये हमने सुना है बिल्कुल सही सुने हो लेकिन ये भी बात नहीं ब्रह्म निर्वचनीय है अनिर्वचनीय है और निर्वचनीय भी है निरुक्तंच अनिरुक्तंच निरुक्तंच अनिरुक्तंच तैतृष विस्तार आएगा निलयनंच अनिलयन परस्पर विरुद्ध सब कुछ सब अविद्या के दृष्टिकोण से कहा जाता है भी अनिर्वचनीय है या निर्वचनीय दोनों ही अविद्या का दृष्टिकोण वास्तव ब्रह्म न निर्वचनीय है न अनिर्वचनीय दोनों ही सकल विरोध जो आभास हो रहा है हमें उनका अधिष्ठान वो है इन सकल विरोधों का निर्वचनित्व निर्वचनित्व का भी प्रकाशक हो उस प्रकाश को आप न निर्वचनी कर सकते न निर्वचनी कर सकते तो जो हम इसलिए शुरू करते हैं खंडन खंड खाद्य में जो विचार होता है शुरू में तो कह दिया सिद्धांति बोलते बोलते जो है आत्मा में कोई धर्म नहीं कहते निर्धर्मकत्व नाम का धर्म है पूर्व पक्षी कहेगा निर्धर्मकत्व में धर्मो अस्थि निर्धर्मकत्व नाम का तो कोई धर्म है नहीं उदाता में है कहना बड़ा विचित्र शास्त्र वो भी नहीं है इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर देवी हम वही कहते वाचन वर्तन हम तो हमको बोलेंगे भाषिकार के नागेशु सर्वधर्मेशु शाश्वत शाश्वता भिदा सभी अजन्म आत्र धर्मों में आज जितने भी जीवात्मा तो पैदा हुआ मान रहे हो ना ये सब अजन्मा अनंत जीवात्मा है जो अनंत जीवात्मा मान रहे हो ये भी वास्तव में सब के सब अजन्मा ही है और सकल अज सर्वधर्मों में शाश्वत या अशाश्वत शब्द प्रयोग ही नहीं हो सकता नित्य नित्य ऐसे नाम की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती यत्र वर्णान वर्तन दे जहां पर जिन विषयों में जिस आत्मा में शब्द ही प्रवृत्त नहीं होते तथा वहां पर नित्य नित्य के विवेक वेग का कथन करना भी नोचित है कथन नहीं किया जा सकता है या कथन करना उचित ही नहीं है तथा शब्द निरूपित विवेक और नित्यानित्य नामक जो विवेक है शब्द निरूपित विवेक ये असंभव है नौचते कोई कथन नहीं कर सकता इतरेतर भेद ये नित्य हो या नित्य इस प्रकार से परस्पर भेद निरूपण तो नहीं हो सकता अद्वैत में तो हो ही नहीं सकता तो उसका उत्पादन करना संभव नहीं है परमार्थ दस्तो आत्मसु अजेशु परमार्थ का विचार करके देखें आप जान के बहुचन प्रयोग करें आत्मसु अनेक जीववादी मान लो कोई आपत्ति नहीं हमें तब भी उन अनेक जीवों में से कोई भी जीव जीवाश्र पैदा ही नहीं हुआ कभी आत्मसु अजयशु नित्य रसा मात्र सत्ता केशु कैसा है वो परिचन्न नहीं है अनित्य नहीं है और नित्य है एक रस रूप है वो नित्य है ऐसा है वो नित्य है नित्य का तात्पर्य उत्पत्ति आदि से शून्य और कैसा हो एक रस है मैंने सामान्य विशेष भाव रूपा भेद ही नहीं एक रसता का मतलब क्या सामान्य विशेष भेद का होना उसमें एक रसता नहीं है जो एक रसता वाला नहीं आप भेद करते हुए सामान्य भी विशेष है जब सब एक जैसा रहेगा तो सब एक जैसा है बोलते तो आज फिर सामान्य विशेष भेद नहीं रह गया एक रसत्व मतलब सामान्य विशेष निरुप्त भेद रही तम और विज्ञप्ति मात्र स्वरूप है वो तो कैसा है विज्ञप्ति मात्र रूप है वेदों की बहुत भाषा है ये बहुत लोगों की शब्दावली विज्ञप्ति का सिद्धि तो ग्रंथ ही उन्होंने लिख दिया है विज्ञप्ति मात्र का सिद्धि नाम के बौद्धों का ग्रंथ ही है कभी विज्ञप्ति मात्र है उसके अंदर कुछ भी कल्पना भी नहीं वास्तव में उनका कहना है वो क्षणिक विज्ञान में कल्पना भी संभव नहीं है अतः धर्म शून्य में जाते हैं फिर उनका भी स्टेज सही है पहले बाह्य जगत माना फिर नहीं बाह्य जगत ही नहीं अनुमय है प्रत्यक्ष है फिर अनुमय है फिर कहते बाह्य जगत ही नहीं शनि विज्ञान बाह्य जगत रूप भाषित होता है फिर कहते वो भी नहीं हो सकता वास्तव में कैसे भाषित हो जाएगा जब भाषण में कोई चीज मानना पड़ेगा समृद्धि मानना पड़ेगा पर समृद्धि भी कोई सत्य वस्तु है क्या वो भी क्षणिक विज्ञान के जैसे सत्य वस्तु तो है नहीं अतः जैसे उन्होंने कहा माया नहीं है माया भी नहीं है उनके भी कहना वही समृद्धि ही नहीं है फिर है क्या ये विज्ञप्ति है कुछ क्षण ज्ञान विषय कुछ बस इतना ही अंतर है वो क्षण ज्ञान दिया इसलिए विशेषण दे दिया नित्य विज्ञप्ति मात्र है हमारा नित्य है विज्ञप्ति मात्र स्वरूपता और सत्तावान है निस्सत्ता होता शून्य रूप नहीं है वो ऐसा आत्मा है सत्ता केशो विद्युत मात्र सत्ता केशो शाश्वत अशाश्वत ना विदा यह नित्य है ये अनित्य है इस प्रकार के अभिधान शब्द प्रयोग नाविधान प्रवर्तित है शब्द व्यवहार भी नहीं हो सकता यत्र येष वर्ण्यम दे यही रखता ते वर्ण शब्द न प्रवर्तनते यत्र का मैंने येष जिन आत्मा में यही वर्ण्यंते अर्थ जिन शब्दों के द्वारा अर्थों का वर्णन किया जाता है यही निंदे ते वर्णा जिनके द्वारा अर्थों का निरूपण किया जाए उनका नाम वर्ण मान शब्द घटा इस अर्थ को ये जो गोल मटोल वस्तु है उस अर्थ को किसके द्वारा हम बोध करा रहे हैं आपको घट और शब्द के द्वारा तो घटा ये जो शब्द है वो अर्थ का वर्णन करता है यही अर्थ वर्ण्य वर्णा एवं शब्द येषु न प्रवर्तन ऐसा जो शब्द समुदाय है वे जिन आत्म तत्व के बारे में कुछ कुछ करने में नहीं प्रवृत्त होते हैं अभिधा तुम प्रकाश तुम न प्रवर्तन बस आत्मरूपी अर्थ को पदार्थ को तत्व को शब्द कवि प्रकाशन अभिधावृत्या कवि प्रकाशन नहीं कर सकते वाच्यार्थ आत्मा को किसी शब्द के द्वारा बोध नहीं कर सकते स्वयं जो आत्मा शब्द है ब्रह्म जो शब्द है ये भी आपका ब्रह्म का बोधक नहीं हो सकता है लक्षक मात्र ही है ये लक्षित कर देता है उस तत्व को संकेत मात्र से समझा देता है वस्तु को इन्हें व्यवस्था दे नहीं सकते इदम एवं विवेक इधम एवं एवं अरे आत्मा ऐसा ही है यह आत्मा ऐसा ही है इस प्रकार का निश्चय करने का नाम विवेक है इदम एवं एवं न एवं एवं यह ऐसा ही है वैसा नहीं है वैसा नहीं है बोलने के लिए भेद चाहिए यह ऐसा ही है इसका मतलब क्या वैसा नहीं है और ये तो भेद भी व्यवस्था हो सकता है अभेद में नहीं इसलिए कहते हैं विविक्तता विविक्तता मैंने मिथो भेदा टिप्पण का स्पष्ट कर देते हैं तत्र नित्य नित्य क्या है मिथोवे ये नित्य या नित्य ऐसा जो व्यवस्था आप जो देना चाहेंगे न उपादित ऐसा युक्तियों से तर्क से प्रमाणों से आप उत्पादन नहीं कर सकते क्या प्रमाण है जी इधर वाचो निवर्तन प्राप्त मन शब्द है तो कहेगा फिर तो है नहीं हो शून्य है हमारा मत ठीक है फिर फिर तो आत्मा भी नहीं है उसका है मन में क्या प्रमाण ये शून्य है क्या कहते हैं महाराज ये जो दिखाई दे रहा था आभा तो कहा दिखाई दे किसको दिखाई दे ये आता भी नहीं है आता भी शून्य कह दोगे फिर किसको दिखाई दिया कैसे दिखाई दिया कहा दिखाई दिया अधिष्ठान तो पूछेंगे हम कौन क्या है ये सारा मिथ्या करके तो अनुभूति रूप वस्तु तो होगी इसलिए सारा चीज उसके समान है किसके समान तभी तीसरा प्रकरण फिर लौटते हैं अरे तीसरे प्रकरण में तुमको समझाया है बस दोबारा दोनों कार्य को वहीं का वहीं ला रहे यथा स्वप्न दयाभासम चित्तम चल दिमाया तथा जागृत दयाभासम चित्तम चल दिमाया अत्यं चयाभासम चित्तम स्वप्न संशय अत्यं चयाभासम तथा जागृत संशय यथा स्वप्ने द्वयाभासम चित्तम माया चलती जैसा स्वप्न में आप देखते हो द्वयाभासम प्रतिपाद्य प्रतिपादक और दो आभासो यत्र ये प्रतिपाद्य है ये प्रतिपादक है ये दृश्य है और ये दर्शक है दृष्टा है दृष्ट दृश्य आदि सगल प्रकार का भेद निर्पिता आभास वहां पर हो रहा है कहा स्वप्न में और कौन कर रहे सब चित्तम चित्त में ही सब कुछ होता है भाषम चित्तम शलतिमा माया चलती अविद्या परिणाम दे विवर्त देवा अविद्या के माध्यम से ही वह चित्त में यह परिस्पंद के कारण से अविद्या पर अविद्या निष्ठ परिस्पंद के कारण से या अविद्या निर्मित विवर्तता के कारण से परिणाम के कारण से दिखाई देता है यह तो अविद्या परिस्पंद मानो यह अविद्या का परिणाम मानो यह अविद्या निर्मित विवर्त चित्र मान लो तो ये स्वप्न दिखाई देता है यहाँ तक परिणाम नहीं अविद्या में स्पंद है आत्मा स्पंद भी नहीं अविद्या निष्ठा पर स्पंद है यह अविद्या का परिणाम रूपा हुआ स्वप्रमय जगत है यह अविद्या विवर्त आत्मा है जो जगत रूप आभाषित द्वयाभाषण चित्त तथा जागृत भी द्वयाभाषण चित्त इसी प्रकार से जगत जो देख रहे हो वह भी द्वयाभाषात्मक चित्त ही है चलते माया वो भी माया से निर्मित होकर दिखाई दे रही है माया से माया से उत्पन्न स्पंद है या माया से निर्मित उत्पन्न परिणाम है या माया निर्मित विवर्त है आत्मा में जबकि यह बाह्य जगत द्वैत भाष दिखाई देता है ठीक फिर भी देखो बड़ा आश्चर्य यदि भी ऐसा है वो स्वप्न फिर स्वप्न का वर्णन होता नहीं होता है वर्णन इसी प्रकार आत्मा यद्यपि वह शब्द के अंदर अगोचर है फिर भी शब्दों के अंदर इसका वर्णन किया जाए न किसी इंद्रिय का विषय था कुछ भी नहीं झूठा हंड्रेड परसेंट है स्वप्न वहाँ इंद्रिया भी कल्पित है शरीर भी कल्पित सब देश काल जो कुछ भी सब कल्पित शत प्रतिशत परिकल्पित वस्तु है फिर भी उसका वर्णन किया जाता जब अत्यंत असत वस्तु का वर्णन कर सकता हूँ सद वस्तु का शब्द निरूपण करने क्या क्या शंका हुई आनंदगिर कार्य दे रहे आत्म शब्द अगोचर पे खत्म असद व्याख्या शब्द प्रतिपादित आत्म शब्द अविषय अत्यंत विषय है तो इस व्याख्याताओं ने शब्द द्वारा आत्मा क्यों व्याख्यान किया विद्याशंका चित्त स्पंदन मात्र अविचार सुंदर प्रतिपादित प्रतिपादित रूप चित्त का स्पंद मात्र ही है अविचार सुंदर विचार के बिना मनोहर है मन को लुप्त कर देने वाला अविचार सुंदर प्रतिपाद्य प्रतिपादित रूपम ये जो प्रतिपाद्य प्रतिपादित रूपा कारण द्वैतम इसी बात को दृष्टान समझाने के लिए स्वप्न का उठाया गया है स्वप्न प्रतिपाद प्रतिपाद से चित्त स्पंदित मात्र चित्त से समझना है अंतकरण चैतन्य से परिस्पंदित है जो कि अविद्या के कारण से ही है अविद्या माया ही व समृत्य ही जागृत में भी उसी प्रकार से समझना चाहिए दोबारा जो श्लोक कहा गया है पुनरुक्ति दोष ही समझना तीसरे प्रकरण में दोनों कारिकाएं आई थी दोबारा यहाँ कारिकाएं लाया हो ये नहीं समझना चाहिए कि शंकांतर का निराश करने के वहां से यहाँ शंका विलक्षण है वहां जन्मादि की शंका थी उसके लिए जवाब दिया था भाई जैसा स्वप्न के वस्तु जन्मादि होता नहीं वैसे जगत का जन्म नहीं है और अब यहाँ जो शंका दे रहे हैं दूसरी बात प्रतिपादित प्रतिपादक भाव को लेकर शब्द प्रतिपादी आत्मा या नहीं तभी यथा स्वप्न में पदार्थ शब्द प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव से विशिष्ट नहीं हो सकता उसे फिर आत्म तत्व भी शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव से विशिष्ट नहीं हो सकता ये स्वप्रबद मिथ्या है क्या आत्मा गदन नहीं अद्वयंचयाभासम चित्तम स्वप्न संशय सकल दार्शनिकों के द्वारा स्वीकृत है जो स्वप्न है स्वप्न में जो विद्वाभास है जो हो रहा है चित्त वह अद्वैत स्वरूप है एकमेव द्वितीय अंतकरण आवचिन चैतन्य ही था और वही अनंत रूप धारण करके विद्यमान दिखाई दे रहा है ऐसे सभी दार्शनिक स्वीकार करते हैं इसलिए वह चित्त जो द्वयाभास को धारण किया हुआ है वह चित्त मिथ्या नहीं है यदि वह अधिष्ठान मिथ्या हो जाए वह वस्तु विद्या वस्तु दर्शन ही हो सकेगा फिर दर्शन करोगे वंध्या पुत्र में आप सदगुणों का दर्शन कर सकते हो या दुर्गुणों का दर्शन कर सकते हो क्या बंध्या पुत्र भी अधिष्ठान है उस अधिष्ठान में आपने अनेक सदगुणों को देखा और सदगुणों का सम्मान करते हुए महामंडल से घोषित कर दिया लगता है क्या ये सब असंभव है निरधिष्ठान गुण या दोष आदि जैसा व्यवहार असंभव है उसी पर निरधिष्ठान व्यवहार भी असंभव है अतः उस अध्ययन चित्त मानना पड़ेगा चित्त में चित्तमित लेकिन वो चित्त मिथ्या नहीं वो चित्त क्या है अद्वयम सत्यम यथा स्वप्न न संशय जैसे स्वप्न में ऐसा मान लिया है सभी दार्शनिक से कोई संशय नहीं है तथा जागृत भी अत्यंत न संशय उसी तरह जागृत काल में भी अद्वैत चित्त ही द्वैत प्रतिपादी प्रतिपादित रूप में आभास हो रहा है इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए वाय प्रतिवादी इन दोनों के तरह सम्मत दृष्टान के तरह सिद्ध कर दिया गया है अतः संशय करना उचित नहीं है ये पुनर्वाग गोचर तुम परमार्थ द्वैत से विज्ञान मात्र सतन मनसा स्पंदन मात्र न परमार्थ होगी ये जो कुछ श्रुति स्मृतियां कह रहे हैं वाक का विषय रूपेण कथन कर दिया आत्मा को आत्मा को भी वाणी का विषय रूपेण एक तरह से कथन कर रहे हैं धूमादित्य सत्यम नागे सुखम अस्थि ये विज्ञानम आनंदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म ये सब शब्दों के द्वारा अशब्द रूपम स्पर्शम अगंध वच्छेत अपूर्व मन इतने अनेकों शब्दों के द्वारा क्या है आप आत्मा का प्रतिपादन कर रहे हो इस शब्दों के प्रतिपादित प्रतिपादित भाव संपन्न हुआ कि नहीं हुआ आत्मा वही करे यद पुनः वाग्गोचरत्म शब्द विषय रूपेण आत्मा का जो प्रतिपाद्य प्रतिवाद रूपेण संबंध करते हुए शब्दों में प्रतिपाद्य आत्मा ऐसे करके जो लोग कहते हैं ये श्रुति स्मृति में जो देखने को मिला है वह परमार्थ था अद्वैत विज्ञान मात्र वह परमार्थ था जो अद्वैत है विज्ञान मात्र स्वरूप है प्रतिपाद्य प्रतिवाद्य से भाव से असंस्पृष्ट प्रतिपाद्य प्रतिवादक भाव से रहित है ऐसे विज्ञान मात्र से तत् क्या वाग्वचरतम जो पुनः ये पुनः वाग्वचरतम तत् मनस स्पंदन मात्र वह केवल आपके पे मन का मौज है आप आत्मा का वर्णन कर लो जैसे भी चाहे शब्दों से वह मनस स्पंदन मात्र ये जो परिच्छिन्न अविद्यावच्छिन्न चैतन्य का ही केवल स्पंद मात्र ही है न परमार्थ थी वास्तव में नहीं शेष शब्दार्थ उक्तार्थ श्लोकों और इन दोनों कार्यक्रम का जो है अन्य शब्दार्थ पहले ही तृतीय प्रकरण में कह चुके अद्वैत प्रकरण में अद्वैत प्रकरण का ये उनतीस और तीसवीं कारिकाएं थी स्वप्र प्रचलन सपने दिक्षु वही दश सुस्थितान अंडजान जान वापी जीवान पश्यति सदा सदा स्वप्रदिक प्रचरण स्वप्न स्वप्न का दृष्टा स्वप्न में विचरते हुए दशो दिशाओं में घूमता फिरता है और दिशाओं में विद्यमान सरल पदार्थों का अनुभव भी करता है और इतना ही नहीं वहां भी अंडज सूर्यज अनेक जीवों का अनुभव करता है चतुर्विद सृष्टि वहां भी देखता है इन्हें के स्वप्न में केवल अंडजी होते हैं क्या स्वेद सूर्यजी होते हैं मनुष्य होते ही नहीं खुद ही वहां है कम से कम और कोई मनुष्य हो या ना हो खुद अकेला तो जंगल में भटकता हुआ दिख रहा है तो खुद तो है ना मैं चतुर्विद योनियों उनको वहां देख लेता अंडजान स्वयजान वापी जीवान पश्यती सदा जिनको वह सदा देखा करता है इतच वाक गोचर से अभाव अद्वैत इसलिए भी यथा वाक गोचरता का अभाव आत्मा में है इसलिए उसी प्रकार वाक गोचरता भाव द्वैत में भी है इसे द्वैत कर वर्णन में है नहीं तुम मिथ्या वस्तु वर्णन क्या करो शब्द ज्ञान पात्र वस्तु शून्य विकल्प शब्द ज्ञान मात्र का हम अनुसरण कर सकते हैं वास्तव वस्तु तो है नहीं फिर फालतू बोल के क्या फायदा मुझे आजकल के संत महात्मा विचार करते हैं भाई तो उसके सामने सत्संग किया जाए उसी के सामने कुछ बातें कही जाए जिसके जेब से कुछ निकलेगा और जांच से कुछ निकलना ही नहीं तो क्या फालतू समय बर्बाद करना है नहीं तो आजकल देखते हैं कहीं तो हमने देखा था हमको तब से थोड़ा ये लग गया क्योंकि वो पहले ही बोला भगत से जो बुलाए थे लोग आए थे जोधपुर से एक ग्रुप ताकि महाराज हमारे यहाँ चतुर्माश कीजिए मल्लेश्वर जी से कहा किसी मंडलेश्वर से और मंडलेश्वर जी ने कहा कि भाई चातुर्मा के दो महीना वहां बिताएंगे तो कितना चढ़ावा होगा संस्था को मेरे को नहीं चाहिए मेरे को एक कौड़ी नहीं चाहिए बात करने की तरीका हमें कुछ नहीं चाहिए इस संस्था को कैसे चलेंगे यहाँ पचास महात्मा रहते हैं उनका दोनों टाइम भोजन पानी रहन सहन खाना पीना और बिजली सब चलता है, है? और आप फोन करते हो टेलीफोन भी लाएगा ना यहाँ पर यहाँ से तो आपको फोन किया जाता है टेलीफोन बिल है कहाँ से है ये संस्था के क्या देते हुए हमें नहीं चाहिए एक पैसा संस्था को कुछ देना हैं क्या दे सकते हो बताओ तो महाराज को मिला जुला कर किसी तरह से हम दो लाख कर देंगे अरे दिल्ली वाले तो तीन लाख कह रहे थे कहने का बोला मतलब हम तो वहाँ जाएंगे तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे और उसने सोचा फिर अच्छा महाराज हम अपने समिति से बातचीत करके आपको बताएंगे फिर उसने वहां से जा करके फोन करके साढ़े तीन बोल दिया तो सब जोधपुर चल पड़े दिल्ली रह गया पीछे क्योंकि दिल्ली वाले ने तीन कहा था उसे ज्यादा वहां मिल गया ना साढ़े तीन तो वहां चल पड़े ये दुनिया द्वैताभास है क्या जगत भी द्वैत है या आवाज है देवी गाड़ी का विषय नहीं हो सकता कैसे विषय नहीं हो रहा है व्यवहार तो सब चल ही रहा है विचित्र जगत तो इसलिए गोचर से भाव लेकिन फिर भी जना वास्तव में वाणी का विषय भूत द्वैत नहीं हो सकता क्योंकि मिथ्या है कुछ को दृष्टान समझा रहे स्वप्न चरण स्वप्ने स्वप्न अन्यता स्वप्रदृष्टा स्वप्न में घूमता हुआ प्रचलन दशो दिशाओं में स्थित दिक्षु दशसु अनवयी दशो दिशाओं में स्थित उन समस्त स्वेदज अंडज जरायुज है और उद्भिज जंगल पेड़ भी तो देखेगा बिना पेड़ का जंगल क्या देख सकता है क्या कोई वो जो सफर में जंगल देखेगा तो पेड़ वाला जंगल होगा इधर उद्भिज भी देख रहा है सब प्रकार के जीवान दश्यति यान सदा या अन्य जन प्राणियों को जो सदा देखता है वास्तव में सब प्रदृष्टा से भिन्न नहीं होती है ऊपर से ध्यान करना पड़ेगा देखता तो है फिर भी सब प्रदृष्टा से वो भिन्न नहीं है यथा भाष्यकार जोड़ के बताएंगे देखिए स्वप्नान पश्यती स्वप्न दृक प्रचरण पर्यटन स्वप्रदृष्टा पर्यटन करते हुए कहा स्वप्न में स्वप्न दीक्षु वही दश सुस्थितान दश दिशा जो स्वप्नान पश्य कुरवान स्वाप्र पदार्थों को देख रहा है कैसे है वो स्थितान वर्तमान किस प्रकार के वो जीवान प्राणी रहो कैसे प्राणिया अंड जान जान वायान सदा वश्यती जिनको सदा देखता है न ते विद्यंते पूर्व अन्वय आनंदीकार पूरा करके बता रहे वहां न ते विद्यंते पूर्व अन्वय अंतिम पंक्ति आनंदगिरी यह वास्तविक विद्यमानी स्वप्न दृष्टा से भिन्न स्वप्न सत्ता वाले होकर के उपलब्धिमान वस्तु वो नहीं होते स्वप्न दृक्षित दृश्यास्ते न विद्यंते तथा पृथक तथा तदृश्य में वेदम स्वप्न दृक्षित मिश्यत स्वप्न दृक्षित दृश्याते स्वप्न दृष्टा के ही चित्त दृश्य रूप में परिणत कर दिखाया जाता न तथा पृथक इसीलिए उस सब दृष्टा का चित से पृथक कुछ भी नहीं है यथा तदृश्यम जैसा स्वप्न का दृश्य है एवं एवं इदम एवं इदम उसी प्रकार से यह दृश्य भी है चित्त में शब्द है इस दृक का चित्त के समान जागृत कालीन जागृत दृक का भी चित्त दोनों में कोई भेद नहीं है फिर एवं तथा किम और पक्षी ने पूछा ठीक है स्वप्न में ऐसा होता होगा इनमें से क्या हुआ उच्चत है सप्रदृश चित्तम सप्रदृत चित्तम सप्रदृष्टा का जो अंत अंतकरण चैतन्य वो स्वप्रदृक का चित्त को या कहा स्वप्रदृत चित्तम तेरे दृश्य तार संतकरण के द्वारा दृश्य है ते कौन जीवा तो चित्र जो है सृष्टि है वो तो चारों के चारों सृष्टियों को देख रहा है इसलिए तो कहा तस्मा शुक्र चित्ता उस सप्रद जो अपना अंत कर ले उससे भिन्न पृथंग ना न संदित कहा पृथक कोई शुभ्र पदार्थ जमान नहीं हो सकते चित्त में ही अनेक जीवादि भेदाकार विकल्प थे केवल अंत कर्ण का कमाल है कि वो मन क्या कर रहा है अनेक जीवादि भेदाकार परिणाम को प्राप्त विकल्पित हो रहा है विकल्प इसलिए बोल दिया कि वस्तु ही नहीं लेकिन शब्द का व्यवहार मन मन बोलते क्या जिसे वहां पर क्या है मेजिशियन जो होता है मायावी इंद्रजारिक वो कुछ बनाता है क्या ये बनाएगा तो रहना चाहिए वो रहता कुछ नहीं वहां हजार रुमाल निकाल देता है कहा नहीं सब रुमाल ऐसा विद्यार्थियों को बटनी चाहिए सबको क्यों मिल जाए फ्री फंड में और है नहीं रुमाल तो कहां से मिलेगी मेरे बोल मन से ही मनी मन बोलते जाता है पहले मंत्र फूंक दिया वो डंडा जो घुमा घुमा करके बकवा बक बक करते जाता है और उसी में बांध देते सबका अकल को आंखों को सहित अकल को भी बांध दिया उसने और आप वो जो बोले वो जो सोचे वही आपको दिखाई देती जाएगा वही आपकी सोच मंत्र शक्ति है उसके माया का ये और कुछ नहीं फिर तो बोलेगा हाथी देखो उसके मन संकल्प किया हाथी तो आपको हाथी दिखाई देगा जो कहे वही वहाँ दिखाई देता है बड़ा आश्चर्य होता है एक बात तो कभी खत्म ही नहीं हुआ सब डकार रहे हैं ऐसे दिखाया उसने और उसने मुंह मेरे मुंह के सामने लगा रखा और इधर उन्हें डकार रहा बताओ अरे कहा बोतल है कहा दो दूसरे मुंह में भी नहीं लगाया और इसको एक दूसरे को छोड़ नहीं कहीं ही कहा हम लोगों को आठ आदमी को खड़ा कर दिया लाइन और कहा कि अगले क्या सामने रखना पीना नहीं बोला उसने सामने रखो कर दो अरे भाई कमाल है उसके बोतल पीने भी नहीं दिया उसने उसको भी और बस उसने कहा खड़ा रहे देख रहा था उसको हंसी आ रही उसके बेचारे को आज पर सबको एक दूसरे को छुना छुआ ठीक है छोड़िया दिया चूहा ने अंतर आदमी को टच नहीं किया उसको डकार लगे जोर जोर से क्या हो भाई आपको अरे भाई बहुत पीले आग मत पिलाओ बोल रहा है कोने वाला लड़का बोलता है बहुत पीले आग नहीं पी सकता अच्छा की वहां बोलते तो मुंह में भी नहीं लगा एक दो एक बूंद भी नहीं निकला वहां क्या है अगर अलग हो जाओ तो पेट खाली उसकी कहा डकार सारा खेल ऐसे ही जैसा हम संकल्प करते जाता है वैसे यहाँ पर भी इसने कहा तद तो एक क्षत बहुश्याम हम प्रजा कौन बहुश्याम प्रजा उसने क्षण कर दिया और सब दिखने लग गया हम लोग सब दुनिया भर के हो गए जैसे बरसाती मेढक पैदा हो जाए नहीं बरसात में पैदा हो जाए दुनिया और मेढक हो जाते तो कीड़े पकड़ मकोड़े पैदा हो जाते हैं उसी प्रकार से हम सब जो पैदा हो गए फालतू के कोई प्रयोजन नहीं इसका इसका प्रयोजन ही नहीं है तो इसलिए कहते हैं कि देखो तथा दृश्य में इदम समृचित भाषाकार कहते हैं चित्तात्मृतम न गंधित चित्त में अनेक जीवादि वेदाकरण विकल्प इसलिए विकल्प बोल रहा था तथा तदपि स्वृत चित्त इदम तदृश्यमेव ठीक उसी प्रकार से स्वृत का चित्त का जैसा यह समदृश्यता वैसे जागर का दृश्य समझा तेन स्वृशा दृश्यम तत्दृश्यम तदृश्यम का व्याख्या कर रहे तेन दृश्यम यदि तदृश्यम तेन मने स्वप्न दृशा यद दृष्टम दृश्यम तद दृश्यम तदृशम में समास हो अतः स्वप्न व्यतिरेक चित्तम नाम इधर चित्त भी क्या है सप्रदृक का दृश्य सप्रदृक बोल रहा है मेरा मन ने सब बनाया इधर आपने अपने मन को जाना आपका मन बना रहा है अतः वो चित्त भी क्या है सप्रदृक से भिन्न नहीं चित्त से भिन्न दृश्य नहीं पहले दृश्यों को चित्त से अधीन सिद्ध किया और चित्त को सब दृष्टा से अधीन सिद्ध कर रहे हैं अगर रहा गया केवल स्वप्रदृग के रह गया और कुछ नहीं अतः स्वप्रदृग व्यतिरेक चित्तम नाथ चित्त नाम की चीज भी नहीं है तो उसको अब जागृत में घटा है स्वप्न में स्वप्रदृष्टा दश दिशा में घूमता है सकल प्रकार के अंडज आदि सभी वस्तुओं को देखता है और स्वप्रदृष्टा के चित्त के ही निर्मित दृश्य सब दृष्टा से भिन्न नहीं है ये बात जो कहा गया था वो सिर्फ गतारे जागृत में चरण जागृते जागृत दीक्षो वही दश सुस्थितान अंडजान सृजान वापी जीवान दश्यन सदा कहते हैं कि वह जागृत अवस्था में घूमते हुए जागृत चरण कौन जागृत अर्थात जागृत अभिमानी साक्षी होता जीवात्मा वह दिक्षु दशुस्थान दशो दिशाओं में स्थित क्या अंडजान स्वेजान वापी अंडज स्वेदज उद्वीज जरायुज आदि समस्त प्रकार के पदार्थों को सदा यान पशति जीवान और जितने इतने प्रकार के जीव जंतु सबको जो देखता है वह तो वास्तव में कैसे है अगले कार्य होता है तो भी ले लो साथ में इसलिए जागृत चित्ते क्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् तथा तदृश्यमे वेदम जागृत चित्तमिष्यत जागृत चित्ते क्षणियाते जागृत का ये जो चित्त है जागृत चित्त मैंने जागृत का जो दृष्टा है उसका अपना चित्त है उस चित्त से अभिन्न तद ईक्षणीय दर्शनीय दृश्य जैसा स्वप्रदृत चित्त आते दृष्टान कार्यक्रम में आप देखिए स्वप्रदृष्टा का जो चित्त उस चित्त के द्वारा दृश्य उधर जागृत जो है आपका का जो अवस्था का अभिमानी उसके जो चित्त है उस चित्त के द्वारा इच्छनीय दर्शनीय दृश्य वास्तता तथा पृथक न विद्यंत इसे चित्त से पृथक दृश्य नहीं और चित्त तो पृथक है तदन नहीं होगा भी नहीं जागृत चित्तम इदम नश्यते जागृत पृथक ये अच्युत प्रविष्ट नहीं है क्यों तथा तदृशमेव इदम कह दिया तथा वाविता तथा तदृशमेव इदम सर्वचित्त मिश्यते ले रहे तथा ठीक उसी प्रकार से उस स्वप्रदृष्टा के प्रति यह चित्त विजय दृश्य है तद में क्या जागृत का दृष्टा उसके लिए इदम ये जो इदम ने चित्तम तदपि दृश्यमेव वह दृश्य ही है जागृत दृष्टा का भी दृश्य कौन है चित्त का दृश्य अंडर सब कुछ जो पदा तो दृश्य स्वामी अनुभव कर रहा है इसलिए जिस प्रकार चित्त से भिन्न वह दृश्य नहीं कटपटा दी उसी प्रकार से जागृत अवस्था का जो जागृत का दृष्टा है उससे भिन्न भी चित्त नहीं है यथा स्वप्न दृष्टा का चित्त से भिन्न दृश्य नहीं थे दृश्य प्राप्त वह चित्त से भिन्न नहीं देखा गया और चित्त भी दृष्टा का दृश्य होने के नाते है स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं होता ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सब घटाना है जागरण व्यवस्था में जागरण व्यवस्था का अभिमानी देवता जो विश्व नाम से प्रति विश्व विश्व नाम से प्रसिद्ध है तो देवता अभिमान करने वाला बड़ा साक्षी क्या करता है वह अपने से भिन्न दशो दिशा विद्यमान अंडक जराज और पृथ्वी पदार्थों का अनुभव करता है लेकिन वह उसका दृश्य होने के नाते वह दृश्य उस चित्त से भिन्न नहीं है स्वप्रदृश्यवत चित्त से भिन्न वो दृश्य नहीं है तथा स्वप्न चित्त से भिन्न वहां का दृश्य नहीं थे तथा जागृत चित्त से भी भिन्न जागृत दृश्य नहीं है और जागृत अवस्था का साक्षी और चित्त दो भिन्न वस्तु है वो भी नहीं हो सकता क्योंकि उस साक्षी का दृश्य कौन है चित्त है अतः चित्त भी उस साक्षी से भिन्न नहीं है तथा तद में इदम अगर जागृत चित्त मिश्य है